उन्नत स्तर के योद्धा लोग हैं उनको जो साधारण योद्धा थे उनको तो मार करके हनुमान जी और नर ने रावण के सामने फेंक दिए और इन्हीं इन दोनों को मुक्त कर दिया कम पापी थे इसलिए इन्हीं के हाथों से मुक्त हो गए और महा महामुखिया जे पावे महामुखिया के माने जो बहुत अधिक पापी थे और उनको सेनापति बनाया गया था ऐसे जो लोग थे उनको ये क्या करते हैं ते पति कही प्रभु पास चला मई उनको हनुमान जी अंदर उठाते और उनका उनको सुर नहीं तोड़ते उनके पूरा शरीर लेकर के उठा करके पैर पकड़ करके उनको घुमाते हैं और घुमा करके फेंकते हैं तो वो जाकर के वहाँ गिरते हैं जाके जहाँ भगवान राम खड़े उनके पास जाकर के वहाँ गिर करके वो मर जाते हैं वहाँ जाकर शरीर छूट जाता है अब ये पैर पकड़ के घुमाते हैं कि जब कोई चीज फेंकनी हो इस प्रकार की एक सिरा मोटा हो एक पतला हो तो मोटा सिरा पकड़ करके फेंकेंगे तो दूर तक नहीं जाएगा तो पतला वाला सिरा पकड़ करके घुमाते हैं और फेंकते हैं तो वो भारी के भार की वजह से जोकर भारी होता है उसी के भार से वो दूर तक चला जाता है तो शरीर भी इसी प्रकार ऊपर की तरफ भारी पैर की तरफ हल्का तो पैर पकड़ कर जब फेंकते हैं घुमा करके तो वो वहां से फेंकते लंका से फेंकते हैं उतने ऊपर से तो नीचे जहाँ पर लंका के बाहर वो किले के बाहर जहाँ भगवान राम लक्ष्मण और जहाँ सुग्रीव और विभीषण खड़े हुए हैं वहाँ पर गीत सुनते हैं तो जाकर के वहाँ उनके भगवान राम के सामने गिरते हैं ते पद गई प्रभु पास रहे हैं और कहा विभीषण तिनके नामा और जब विभीषण देखते हैं कि आकर के ये आरती आकर के गिरा करके ये सेनापति आकर के गिरा करके तो जब वो देखते हैं वो तो विभीषण को नाम बताते हैं कहते हैं कि भगवान ये तो बड़ा शक्तिशाली योद्धा था करके ये नाम है अब विभीषण को सम्मानो वही के रहने वाला और सब सैनिकों को जानता है सब सेना को जानता है और सबके किले के चारों द्वारों में क्या वो सबको जानता है वो सब कितने कितने कौन कौन योद्धा है कितना कितना फल है वो सब पता होता है तो वो विभीषण भगवान की पहचान करवाता है कि हम योद्धा है ये आकर के गिरा करके यहाँ पर आया है तो देवी राम से न होने धामा तो भगवान राम जो है उसको भी अपना धाम दे देते हैं अपना धाम देने के बाद उसे भी मुक्त कर देते हैं भगवान का वो धाम है जहाँ से जीव लौट करके नहीं आता मुक्त हो जाता है यदि गत्वान निवर्तन दे तब धाम परम मम भगवान कहते मेरा परम धाम कौन है यदि गत्वा जहाँ पहुँच कर न निवर्तन थे जहाँ से लौट करके आते नहीं तब धाम परम मम वो मेरा धाम है तो भगवान कहते हैं कि अपने धाम को भगवान जो उनको मैंने मुक्त हो गए वहां से वो लौट करके अब देखो इतने पापी हैं लेकिन वो भी मुक्त अब इतने पापियों को मुक्त कौन कर सकता है ये सामर्थ्य तो भगवान ही है इसलिए हनुमान जब ने देखा कि इनको हम मुक्त नहीं कर सकते ये तो बड़े प्रबल योद्धा है बड़े पापी तो भगवान के पास जब चल किया तो उन्होंने उनको मुक्त किया तो हर मन जाने जान होगी ये महामाव क्या क्यों है ये बड़ी दुष्ट ही है और मनजात है मनुष्यों को खा जाने वाले नर बच्चे और त्रिजानित भोगी और नर में भी अगर ब्राह्मण मिल जाए तो बड़े प्रेम के साथ खाते हैं उनका तो मांस बड़ा मीठा लगता है उनको तो छोड़ते ही नहीं तो ऐसे ही निशाचर जो है कहते हैं खल मन जात निशा दुजानित भोगी और पावन गति जो जात जोगी ऐसे में साकर भी ऐसे खल दृष्ट जो है अदम्य साकर भगवान उनको भी मुक्त कर देते हैं वो गति प्रदान करके मुक्ति का साथ साधन प्राप्त करना है वो मुक्ति में साकरों को भी प्राप्त हो जाती है शंकर जी कहते हैं कि जो जातक योगी जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योगी लोग कितनी योग साधना करते हैं कितना तप करते हैं और फिर भी उनको प्राप्त नहीं होती इन साकरों को भगवान इस प्रकार से मुक्त कर देते हैं तो ये शरणागत की महिमा बताई देखो भगवान की शरण में जाए चाहे रीत के जाए चाहे ठीक के जाए तुलसी अपने राम को रीत भजो चाहे खींच उल्टो तो सीधो जामी है खेत परी को दी कर लोग भगवान राम का स्मरण इनको भी करना पड़ता है शत्रु है मनोविज्ञान तो ये कहता है कि अपना मित्र मित्र का उतना याद नहीं करता और कोई व्यक्ति अपनी स्त्री को उतना स्मरण नहीं करता जितना कि व्यक्ति अपने दुश्मन याद किया करता है उसे बड़ा सावधान रहता है दिन रात हर समय सावधान रहेगा कि रात में ऐसा न हो कि हम जा रहे हैं और रास्ते को में लगाए बैठा हो मार बार याद आएगा तो शत्रु के बार तो ये निशाचर लोग भगवान से शत्रुता मानते हैं और बार बार उनकी भगवान की याद आती रहती दिन को तो स्मरण के कारण से ये भगवान राम इनको मुक्त कर देते मैंने अवैज्ञानिक नहीं है मैंने तर्कहीन बात नहीं है उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण वो यहाँ पर ये प्रसंग आ गया यहाँ शंकर जी उसे स्पष्ट कर देते हैं कहते हैं उमा राम मृत चित करुणा कर हे पार्वती सुनो भगवान श्री राम जी बड़े ही मृद चित है उनका हृदय बड़ा कोमल है करुणा निधान है करुणा मन करुणा निधान कहते भगवान जानते हैं शास्त्रों ने बड़ा पाप कर्म किए हैं बड़ा उपद्रव इन्होंने किया है और ये बड़े दुष्ट है लेकिन फिर भी भगवान कहते लेकिन इस कौन करते ही रहे हैं बराबर हमको तो नहीं भूले हैं कभी ये तो याद ही कर लेते हैं भगवान तो कहते गैर भाव समर्पण निश्चर भगवान कहते निशाकर लोग हमारा स्मरण बैर भाव से करते हैं अब इसमें देखे शास्त्र में कहते भगवान का स्मरण प्रधान है भाव तो नाना प्रकार के हो सकते हैं जैसे नवधामक की भागवत की है जिसमें कि कोई भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करता है भक्ति करता है कोई सखा के समान करता है हम्म। कोई किसी प्रकार से करता नाना प्रकार के उसने बताए संबंध बता दिए उस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हैं लोग तो नौ प्रकार की भक्तियों में वैर भक्ति वहाँ पर नहीं है भगवान की दसवें प्रकार की भक्ति कहते हैं नौ प्रकार के भक्त तो वो भक्त है जो मुझसे प्रेम करते हैं धर्मानुकूल आचरण करते हैं सदाचारी है और वे लोग हैं हमारी भक्ति भी करते हैं नौ प्रकार के तो वे हैं और दसवें प्रकार के वो भक्त हैं जो आचरण से विपरीत है लेकिन बैर भाव से स्मरण मेरा करते हैं और उनका खाम खा करके वजह से मेरा स्मरण करते हैं तो उनका क्या होता है तो उसका फल तो उनको भी प्राप्त होता है अच्छा ही फल प्राप्त होता है कहते बैर भाव समर्थ महीने गैर बैर भाव से तो निशा कर लोग मेरा स्मरण करते रहे इसलिए भगवान ने उनको सबको मुक्त कर दिया देवी परम गति सोचिए जानी ऐसा जान करके हृदय में समझ करके भगवान उनको निशाचनों को मुक्त कर देते हैं ज्ञान संगत स्पष्ट कर देते निशाचर को भगवान ने क्यों मुक्त कर बहुत बड़े पाप किए थे तो उसका कारण बता देते कि निशाचर लोगों ने अन्य लोगों ने भगवान को उतना स्मरण नहीं किया होगा जितना कि निशाचरों ने स्मरण किया है इसलिए उनको मुक्त कर देते तो देवी परमगति है जानी अस कृपाल को कहा भवानी भगवान के समान ऐसा कृपाल कौन होगा यहाँ कृपालुता की बात क्या है यद्य भगवान जानते हैं कि निशाचर लोग दुष्ट है खड़े हैं लेकिन उसको जानते हुए भी भगवान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया भगवान ने इस बात का ध्यान दिया कि निशाकर मेरा स्मरण करते रहे कि बालकांड में वर्णन कराए तुलसीदास जी कह रहे हैं सोन राम सपने ही हेरी भगवान ने इन निशाकरों की जो इन्होंने नष्टता की सोन राम सपने ही हेरी उसकी तरफ भगवान ने ध्यान नहीं दिया भगवान ने ये ध्यान दिया कि ये सब हमारा स्मरण करेगा कृपालु को कहो भवानी ऐसा भला कृपाल कौन होगा अस प्रभु सुन न भजन धर्म त्यागी जैसे ऐसे लोग भी भगवान ऐसे हैं उनका स्वभाव ऐसा है तो अस प्रभु जो लोग सुने मैंने इनको भी पता चलता है कि भगवान तो ऐसे उदार है ऐसे कृपाल है तो भजन भ्रम त्यागी ऐसे भला कौन होगा जो भ्रम छोड़ करके उनका भजन न करेगा यहाँ धर्म छोड़ने की बात ये कहते हैं और इससे ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि हम भी निशाकरों की तरह से पापी बने दुष्ट बने अपने भगवान का स्मरण करें अरे हम जहाँ कहीं जैसे भी हैं तो भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान को भूलना नहीं चाहिए दुष्टता है तो दस्तता छूट जाएगी हल्का छूट जाएगी सदाचारी है तो और आज धर्म में भी प्रवृत्त होगी धर्म में भी है प्रसन्न अपन निष्काम कर्म योग इत्यादि भक्ति इत्यादि सब हृदय में आ जाएगी इसलिए ये भ्रम छोड़ करके कि हम तो बड़े पापी हैं भला हमारा उद्धार कैसे होगा हो ही नहीं सकता ये भ्रम है ये भ्रम छोड़ देना चाहिए और निश्चय करके भगवान का भजन करना चाहिए उनकी काम में जानी चाहिए परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें साधना करें स्मरण करें ध्यान करें जप करें ये सब भगवान का करते करते उद्धार जाते हैं अगर प्रभु सुने न बजे भ्रम त्यागी नरम मंद के परम अभागी तो कहते शंकर जी कहते हैं कि अगर लोग फिर भी ऐसा भगवान को जान करके नहीं वहन करते हैं तो वे मनुष्य क्या है मतिमंद है उनकी बुद्धि खराब है गड़बड़ और फिर परमाभागी और वो बहुत ही अभागी रामचंद मानस में अभागी शब्द बहुत जगह आया है और मुख्य रूप से उनको आया है जो कि भगवान को भूल करके विषयों में जितते हैं माँ से परम है आदि शंकर जी एक जगह और भी कहते हैं कि देखो पार्वती ये सुनो सबसे बड़े अभागी कौन है जो भगवान का भजन छोड़ करके विषयों में व्यस्त होते हैं उन्हीं में प्रेम करते हैं संसार की ऐसी स्थिति है कि अपने आप को भाग्यशाली कौन मानता है जो समझता जाता अधिक से अधिक विषय भोग हमें प्राप्त है इंद्री भोग हमको अधिक से अधिक प्राप्त है वो समझता है हम देखो कितने भाग्यशाली हमारे पास सब सुख उपलब्ध है और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं हे भगवान हमको ये दो हमको वो दो धन दो संपत्ति दो वैभव दो यश दो कीर्ति दो ये सब भगवान से मानते हैं समझते हैं कि यही भाग्यशाली होने का यही लक्षण है लेकिन शास्त्र के अनुसार परिभाषा भाग्यशाली की दूसरी है भाग्यशाली वो है जिनके जीवन से भ्रम निकल गया है संसारी वैभव सुख का और जिनको परमात्मा की महिमा समझ में आ गई और भगवान की शरण में गए आध्यात्मिक जागृत जिनके मन में आ गई ज्ञान वैराग्य आ गया उनके समान भाग्यशाली कोई नहीं सबसे अधिक भाग्यशाली वही लेकिन जब व्यक्ति का भ्रम दूर हो उसकी दुर्बुद्धि मिटे तब ये बात समझ में आवेगी लेकिन जल्दी समझ में नहीं आ सकती इसलिए ये पंक्ति शंकर जी की जो है यहाँ पर है अस प्रभु सुने न भजई धर्म त्यागी नरमति मंद परम अभागी यहाँ तक शंकर जी की कमेंट्री शंकर जी युद्ध का वर्णन करते जाते हैं पार्वती जी को सुनाते जाते हैं और बीच बीच में टिप्पणी अपनी देते रहते हैं तो देखो यहाँ पर इनमें कहाँ पर क्या शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से तात्पर्य कहाँ क्या है वो वर्णन करते जाते हैं अब आगे कहते हैं कथा बात है कहते अंदर हनुमंत प्रवेशा तीन दुर्ग अति कहे अवधेशा अवधेश भगवान श्री राम भगवान श्री राम जी जहाँ है वहाँ वे वो लक्ष्मण जी से और वहाँ पर और जो लोग खड़े हैं उनसे भगवान कहते हैं कि इसके माने ये है कि हनुमान और अंगद किले के ऊपर चढ़े हुए हैं अब किले के ऊपर जहाँ चढ़े हुए हैं जहाँ से पकड़ पकड़ वो फेंकते हैं वे अंदर हनुमान अन्य लोगों को दिखाई नहीं देते इसलिए ऊपर कैसे कहते लेकिन उसकी सूचना हनु भगवान समझ गए कि ये जो इनको निशाचरों को इतने शक्तिशाली महा महायोद्धा मुखिया है उनको उठा करके कोई फेंक रहा है तो साधारण बाधाओं की बात नहीं है ये हनुमान और अंदर भी कर सकते हैं इसलिए इसके माने यही लोग वहाँ उसके भीतर के लिए ऊपर चढ़े हुए हैं और उनको फेंक रहे हैं तो समझ करके अनुमान लगा करके भगवान राम लक्ष्मण जी को बताते हैं कि देखा हनुमान जी और अंगद के लिए भीतर पहुंच गए उन्हीं ने उनको सबको फेंका है ऐसे कहते हैं तो लंका दो कपि सोहाई कैसे अब ये वर्णन करते हैं कि जो वहाँ पर ये लंका के भीतर ये किले के भीतर हनुमान और अंगद दोनों वहाँ है अब उनका एक काव्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं हाँ, रूपक अलंकार देखो बीच बीच में कविता आनी चाहिए सब काव्य का सौंदर्य बने तो कविता आती है देखो उसका अर्थ समझो कैसे लंका दो कपि सोहे कैसे लंका के भीतर दोनों बानर कैसे सुशोभित हो रहे हैं तो ये रूपक उपमा देते हैं कि मथई सिंध दुई मंदिर जैसे जैसे समुद्र हो और उस समुद्र में दो मंदराचल हो और वो समुद्र का मंथन कर रहे हैं ऐसे दो अब स्मरण करो भगवान कथा की प्राचीन काल में समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत लाया गया देवताओं और निशाचरों ने दोनों तरफ से मिल करके और मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला और बासुकी सर्प लपेटा गया और उसका खींच खींच करके समुद्र का मंथन किया गया यह भी प्रतीकात्मक कहानी है पौराणिक कहानी लेकिन उसी तरह का उसी का उदाहरण देते हुए उसी मन समुद्र मंथन का उदाहरण देकर के यहाँ वर्णन करते हैं कि ये दोनों हनुमान और अंगद ये दो मंदराचल पर्वत की तरह है मंदराचल पर्वत की इनकी तुलना कैसे कर ली इसलिए कि मंदराचल पर्वत भी स्वर्णिम था बड़ा दिव्य पर्वत था मंदराचल पर्वत ऐसे ही दोनों बारह लाल बदन के हैं दोनों इसलिए मंदराचल की तरह से दिखाई देते और समुद्र का जल जैसे कि नीला दिखाई देता है समुद्र उसका जल नीला किसी प्रकार से नंगा मानो समुद्र है और उसके भीतर के निशाचर जितने हैं वो काले निशाचर मानो जल जैसे भरा हुआ समुद्र में उसके समान सब निशाचर और समस्त निशाचरों के बीच में ये दोनों बानर जो है वो घूम घूम करके सबको मार रहे हैं चारों तरफ घूमते हैं हाथ फटकाते जाते हैं किसी के थप्पड़ मारते जाते हैं किसी के पैर मारते जाते हैं इस प्रकार से वो सभी निशाचर जो उनके पास पड़ जाता है वो उनकी तकलीफ खा करके गिरता है मरता है ऐसे करके ये दोनों भाषण कर रहे हैं तो भुजबल रिपु दलता लमज अब ये दोनों क्या है भुजबल मैंने दोनों अपनी शक्तियाँ दोनों हाथ अपने घुमाते हैं दोनों घुमा घुमा करके चारों तरफ मारते हैं तो दल दलमन ही मैंने निशाचर लोगों की जो सेना है उसको उनको मार मार करके गिरा रहे हैं और देख दिवस करे अंत इस प्रकार से करते करते जब बहुत निशाचर मारे और देखा गया संध्या समय हो गया सब दोनों ने हनुमान और अंजन किले के बाहर निकले कूदे जुगल विगत धर्म आए जहाँ भगवंत तो वे कूद करके फिर ऊपर से किले के ऊपर आए छत पर थे और नीचे बाहर कूद पड़े और आकर के वहाँ आ गए जहाँ भगवान थे अब इसमें मंदराचल पर्वत समुद्र का मंथन इसमें बहुत बातें जो है और भी तुलना की आपस में मिला सकते हैं अगर कोई थोड़ी संक्षेप में कह दिया गया दोनों का रूपक बना दिया गया ताकि विस्तार अपने कर लो वहाँ मंद्राचल पर्वत के नीचे कच्छप था भगवान ने सहायता की मंद्राचल पर्वत में जब कच्छप नीचे हुआ तो उसके पीठ के ऊपर मंद्राचल रखा गया तब वो घूमा हम्म। इसी प्रकार से यहाँ ये हनुमान और अंगद भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान की स्मृति और उनकी जय जयकार इन दोनों को बल देता है हनुमान और अंगद को जिसके बल पर इन्होंने समुद्र का मंथन जैसे मंदाचल ने किया था उसी प्रकार से इन्होंने भी कर दिया और इसमें जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो चौदह रत्न निकले थे एक मंदराचल था चौदह रत्न निकले अभी दो मंदराचल घूम रहे हैं उसके भीतर लंका के भीतर तो उसमें क्या होता है कि जो मुखिया मुखिया जो उसमें से महारथी है वो उसमें से निकलते हैं रत्न की तरह से तो उनको फिर ये फेंकते जाते हैं हनुमान रंगत उनको पाते उठा करके बाहर फेंक देते हैं तो बाहर फेंक देने के माने समुद्र मंथन हुआ तो रत्न इत्यादि निकल करके बाहर आ गए समुद्र से ऐसे ये लोग आ करके बाहर गिरते थे इस प्रकार से तो पूरा उसका दृश्य उस समय जो वो समुद्र मंथन का और मंदराचल का और इस प्रकार से उनके मंदराचल के घूमने का रत्नों का निकलने का सबका रूपक वहाँ बन जाता है ये स्थिति हनुमान जी फिर जब ये सब हो गया संध्या काल हो गई तब इन्होंने समझा के समझा हो गया युद्ध बंद हो जाएगा ऐसे समझ करके हनुमान जी दोनों फूट करके भगवान के पास आ गए और जब देखा कि हनुमान जी चले आए तो और मानव लोग भी स्थान छोड़ करके अपने अपने जहाँ युद्ध स्थल में थे वो छोड़ छोड़ करके अपने सब भगवान की तरफ चलने लगे लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ पहले दिन का इन लोगों ने तो समझा समझ करके युद्ध समाप्ति की घोषणा जैसी की लेकिन निशाकरों ने इसे स्वीकार नहीं किया निशाकर लोग हार गए थे तमाम लोग मारे गए थे रावण रहा था फिर आकर के हमारे सामने जो है फूट रहे हैं तो निशाकरों का मनोबल घट रहा था पराजित हो रहे थे तो रावण ने एक बार फिर सबको ललकारा और वे सब निशाकर लोग फिर एक बार युद्ध करने लगे निशाचर जो कहते हैं कि रात्र के समय निशाचरों को शक्ति बढ़ जाती है संध्या आकार आई तो निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है दिन में इनकी शक्ति अधिक है बानवों की शक्ति अधिक है तो जब रात्रि हो जाती है उसके बाद ही निशाचर लोग लड़ने की कोशिश करते हैं आगे में वर्णन आएगा जब शाम हो जाती है तो निशाचर लोग युद्ध करने के लिए तैयारी होते हैं ज्यादा शक्ति लगाते हैं अथवा वो दिन में ही ऐसा करते हैं माया ऐसी फैलाते हैं जिससे अंधेरा हो जाए बादल आ जाए अंधेरा हो जाए तो अंधेरा हो जाए तब इनकी शक्ति बढ़ जाती है निशाचरों की तो ये दिन में भी अंधेरा करने की कोशिश करते हैं तो ये युक्ति चलती है अब ये सब वर्णन क्यों है अब ये बहुत बातें बताने के लिए अगर इंसाइट डेवलप हो जाए तो अपने आप देख लो जो अपनी दूषित प्रवृत्तियां हैं निशाचरी वृत्तियां हैं वे सब अज्ञान रूपी अंधकार में ही प्रबल होती है ज्ञान का प्रकाश दैवी संपत्ति के साथ है जब ज्ञान है तो दैवी संपत्तियां प्रबल होती हैं जब अंधकार होता है ज्ञान होता है तो आखिरी संपत्तियां प्रबल होती हैं तो अपने भीतर कभी अंधेरा कभी प्रकाश कभी भगवान का स्मरण आ गया तो प्रकाश हो गया और कभी भगवान को भूल गए तो अंधेरा हो गया ज्ञान आ गया ये ज्ञान अज्ञान साधकों ये साधकों का जीवन है जो साधक नहीं है बिल्कुल निरे भौतिकवादी है जड़ प्रवृत्ति के है वो तो निशाकरी जीवन जी रहे हैं उनको तो कुछ उनका उद्धार की कुछ बात ही नहीं नाना प्रकार के दुख क्लेश भी भोगते हैं और नाना प्रकार के पाप कर्म भी करते हैं और उनको तो भगवान का आश्रय लेते हैं न उससे छूटने का उपाय करते हैं वो समझते हैं जहाँ हमें वही सब बहुत अच्छा है उनकी तो बात ही नहीं ये युद्ध दो सेनाओं का जब युद्ध होता है तो इसके मैंने साधकों की बात साधक तो साधना करते करते अंत में जब सिद्धावस्था प्राप्त करता है तो दैवी संपत्ति की विजय हो जाती है आर्थिक संपत्ति का विनाश हो जाता है इस क्रम से ही चलता है बस आगे की कथा फिर कर देगी पते हृदय समदीये सत्यम बदा च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ पुङ्गवनिर्भराम् मे कामादिदोषरहितम् कुरु मानसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय